नमस्कार रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है श्री के एल पांडे की कहानी उन्हीं के स्वर में रेडियो प्लेबैक इंडिया लघु कथा का शीर्षक है मां मैं और मेरी मां मैं सोचता था कितनी बुरी थी वो हर काम के लिए टोकना चुपचाप बैठकर पढ़ो वहां नहीं जाना और अगर गए तो खैर नहीं सिनेमा बुरी चीज़ तभी देखो जब हम सब जाएं तुम्हारे साथ हर वक्त खेलना अच्छा नहीं चलो पढ़ो चलकर गलतियां तो डांट छड़ी और अंकुश हर उस वस्तु के लिए जिसे पाने की इच्छा करे मनाही हर उस स्थान के लिए जहां जाने का मन करे और कितनी अच्छी थी उसकी माँ खूब प्यार करती हुई उसकी हर गलती को ढकती हुई जब मन किया पढ़ा जितना मन किया खेला सिनेमा जेब खर्च घूमना फिरना और मज़े ही मज़े मैं और वो अलग अलग रास्ते और मंजिलें वो बिगड़ता बिगड़ता कहाँ पहुँच गया पूरे परिवार को गर्त में लेकर और मैं सफलताओं के सोपान चढ़ता इतना ऊंचा आज मैं सोचता हूँ कितनी अच्छी थी मेरी माँ सच्ची मातृत्व की मूर्ति अपने प्रेम वात्सल्य से मेरे रास्तों को संवारती हुई तुम ऐसी न होती तो मैं कहां होता मां